कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक 19 स्वीकार की आग भाग एक भगवान श्री एक जैन कथा है जोशु ने नानसेन से पूछा मार्ग क्या है नानसेन ने कहा दैनंदिन जीवन ही मार्ग है जोसू ने फिर पूछा क्या उसका अध्ययन हो सकता है नानसेन ने कहा यदि अध्ययन करने की कोशिश की तुम तो उससे दूर भटक जाओगे जोसू ने फिर पूछा यदि मैं अध्ययन नहीं करूं तो कैसे जानूंगा कि यह मार्ग है नानसेन ने उत्तर में कहा मार्ग दृष्ट जगत का हिस्सा नहीं है ना ही वह अदृष्ट जगत का हिस्सा है पहचान भ्रम है और गैर पहचान व्यर्थ अगर तुम असंदिग्ध होकर सच्चे मार्ग पर पहुंचना चाहते हो तो आकाश की तरह अपने को उसकी पूरी उन्मुक्तता में पूरी स्वतंत्रता में छोड़ दो उसे में सुख कहो ना अशुभ कहते हैं कि ये शब्द सुनकर जो सुज्ञान को उपलब्ध हो गया भगवान श्री कृपा पूर्वक इस परिसंवाद का मर्म हमें समझाएं यह छोटी सी परिचर्चा जोसु और नानसेन के बीच जीवन को बदलने वाली हो सकती है तुम्हारे जीवन में भी एक अंगार इस परिचर्चा से पड़ सकता है तुम भी भबक के जल सकते हो और अति कठिनाई होती है समझने में इतनी सी परिचर्चा से सुनने वाला ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो गया होगा ये दो बातें गुरु और शिष्य के बीच इन छोटी सी दो बातों से शिष्य अचानक बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है कभी होगा ठीक क्षण की बात है गुरु और शिष्य के ठीक मिल जाने की बात है जैसे अंगारी बारूद से मिल जाए और विस्फोट हो जाए बारूद तैयार ही है विस्फोट के लिए तुम तैयार ही हो बुद्धत्व के लिए सिर्फ अंगारी और तुम्हारे बीच में थोड़ी सी बाधा है कोई दीवार है कोई पर्दा है अंगार पड़ता भी है तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बारूद से मिल नहीं पाता उस दीवाल को ही ज्ञानियों ने विचार कहा है तुम गुरु को दूर रखते हो अपने से क्योंकि तुम्हारे और गुरु के बीच विचार है तुम सोचते हो क्या कहा गया है इसको तुम विचारते हो उसी विचार में तुम चूक जाते हो काश तुम बिना विचारे सुन सको बिना विचारे देख सको तो दीवाल हट जाए तुम भी विस्फोट को उपलब्ध हो सकते हो जैसे हर बारूद विस्फुष्ट हो सकती है वैसे ही हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता कुछ बुनियादी बातें ख्याल में ले लो फिर हम इस छोटी सी कथा में प्रवेश करें पहली बुनियादी बात कि तुम जैसे हो परिपूर्ण हो तुम्हें कुछ भी किया जाना नहीं किए जाने का ख्याल ही तुम्हें मुसीबत में डाले हुए यह ख्याल ही कि खुद को सुधारना है बदलना है विकसित होना है सीढ़ियां चढ़नी है सोपान पार करने हैं कहीं पहुंचना है यह ख्याल ही तुम्हें आत्मनिंदा से भरे हुए है और जब तक तुम सोचोगे कि तुम्हें कहीं पहुंचना है कुछ होना है बदलना है तब तक तुम मुसीबत में रहोगे तुम्हारी मुसीबत ऐसी ही है जिससे कोई आदमी अपने ही जूते के बंद से खुद को उठाने की कोशिश करे तुम खुद को कैसे बदलोगे कौन बदलेगा किसको बदलोगे तुम ही बदलोगे तो बदलाहट होगी कैसे तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो तुम्हारी परेशानी वैसी है जैसे कि कोई कभी तुमने किसी कुत्ते को दोपहर किसी छाया में विश्राम करते देखा तो अनेक बार वो छलांग लगा लगा के अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि जैसे वो छलांग लगाता है पूछ भी छलांग लगा जाती है पूछ उसकी ही है कुत्ते को जोश भी आता है गुस्सा भी आता है क्योंकि छोटी सी पूछ इतना चकमा देती और जोर से झपटता है जितने जोर से झपटता है पूछ उतने ही जोर से छलांग लगा जाती जैसा कुत्ता मुसीबत में पड़ा है छाया में विश्राम नहीं कर पा रहा अपनी ही पूछ को पकड़ने की चेष्टा में व्यर्थ परेशान हो रहा ऐसी ही गति तुम्हारी तुम जिसे पकड़ना चाह रहे हो वो तुम्हारी पूछ है और तुम जितने जोर से छलांग लगा के पकड़ने की कोशिश करते हो उतनी ही जोर से वो तुम्हारे हाथ से निकल जाते इससे तुम बड़े पीड़ित होते हो इससे तुम सोचते हो कि शायद छलांग छोटी है ताकत कम है समय नहीं आया भाग्य साथ नहीं देता कर्मों की बात है कुछ भी नहीं सिर्फ इतनी ही बात जाननी है कि कुछ तुम्हारी और पकड़ने की कोई जरूरत नहीं वो पकड़ी ही हुई है तुम कहीं भी जाओ वो तुम्हारे पीछे ही होगी सिद्धत्व बुद्धत्व पकड़ा ही हुआ है तुम्हें वहां पहुंचना नहीं तुम सदा से वहां रह रहे हो इसलिए यह घटना घट गट सकती है कि एक क्षण में एक शब्द की चोट किसी को जगा दे अगर अनंत जन्मों के कर्म बाधा डाल रहे हो तो यह कैसे हो सकता है अगर पापों ने दीवाल बनाई हो तो यह कैसे हो सकता है और अगर मंजिल बहुत दूर हो और पाने में बड़ा श्रम करना पड़ता हो तो एक क्षण में निर्वाण कैसे घटित होगा एक क्षण में घट जाता है बस तुम्हारे शांत निर्विचार होने की बात दीवान न होगी घट जाए लेकिन हमारा पूरा जीवन बड़ी उल्टी कोशिश में लगा है एक दिन सुबह सुबह मैं घूमने निकला देखा एक वृक्ष के नीचे एक बंगले के बाहर एकांत रास्ते पर इमली का वृक्ष है एक बच्चा आंख बंद किए इमली खा रहा तो उसने पूछा कि आंख क्यों बंद किए उसने आंख बंद के ही उत्तर दिया कि मां ने कहा है कि अगर इमली का मुंह देखा तो टांग तोड़ दी तो आंख बंद किए हुए ताकि इमली का मुंह न देखना पड़े करीब करीब जिसको हम साधक कहते हैं उसकी दशा ऐसी ही है भयभीत है कि अगर वासनाओं में गया तो नर्क तो दुख लोलुप है कि अगर वासनाओं में न गया तो सुख कहां तो बीच का रास्ता निकाल रहा आंख बंद किए इमली चूस रहा है टांग भी न टूटे इमली भी ना छूटे पर ऐसी प्रवंचना की दशा में तुम कितना ही समय बिता दो जागरण घटित न हो ठीक से समझने की बात केवल इतनी ही है कि अपने को धोखा देने का कोई उपाय नहीं और ना अपने को बदलने का कोई उपाय बड़ा कठिन है क्योंकि जब तक लगता है अपने को बदल सकते हैं आशा बनती और ऐसा लगता है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों बदल ही लेंगे इस बदलने की आशा से तुम बदलते नहीं हो सिर्फ जो घटना अभी घट सकती थी उसे तुम टाल देते हो मन उदास होगा अगर पता चले कि बदलाहट हो ही नहीं सकती लेकिन तुम उदासी से बेचैन मत हो क्योंकि आशा तुम्हें कहीं भी नहीं ले गई तो उदासी से घबराते क्यों आशा ने तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाया तो निराशा से इतनी बेचैनी क्या है बदल बदल के तुम बदल तो नहीं पाए तो अगर बदलने से बदलाहट नहीं होती इस तथ्य का उद्घाटन होता है और आंख खोल के ये दिखाई पड़ता है तो तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों होते हो लौट के देखो बचपन से इस जन्म का तो तुम्हें पता है तुम जरा भी बदले हो एक कण भी बदला है तुम वही के वही हो तुमने रंग रोगन थोड़ा बदला होगा कपड़े बदल लिए होंगे लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी समझपूर्वक पूर्वक देखोगे तुम पाओगे तुम वही के वही हो जरा भी कुछ बदला नहीं लेकिन फिर भी मन में आशा रखते हो कभी बदल जाएंगे कौन बदलेगा तुम ही बदलोगे कैसे तुम बदलोगे तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है इस बात की प्रतीति हो जाए तो एक दूसरी प्रतीति और कर लेनी जरूरी है कि धोखा देने में भी कोई सार नहीं क्योंकि किसको धोखा दोगे आंख बंद करके इमली खाओगे इससे क्या फर्क पड़ेगा धोखा भी नहीं दिया जा सकता और बदलाहट भी नहीं होती तब क्या बच रहता है जो बच रहता है वही जैन का सार वही सहज योग का सार है जो बच रहता है क्या बच रहता है स्वीकार जो दैनंदिन जीवन है उसका स्वीकार तुम जैसे हो वैसे हो इस तथ्य की सहज स्वीकृति और इस तथ्य के लिए कुछ भी ना करना अगर तुम आलसी हो तो आलसी हो अगर तुम क्रोधी हो तो क्रोधी हो अगर तुम बेईमान हो तो बेईमान हो अब ये बेईमान ही बेईमानी को बदलने की कोशिश करेगा तो बेईमानी करेगा इसमें भी चोर अगर चोरी से बचने की कोशिश करेगा तो उस बचने में भी चोरी कर जाए झूठा आदमी अगर सच बोलने की कोशिश भी करेगा तो उसके सच बोलने में भी झूठ होगा क्योंकि झूठ उसका स्वभाव है उसकी आदत है उसमें से सच निकलेगा तो झूठ हो जाए स्वयं को स्वीकार जो कर ले उसके अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं रह जाता क्योंकि जैसा तुम अपने पाओगे उसमें अहंकार करने जैसी गुंजाइश नहीं किस बात का गौरव करना क्या है जिसका गौरव करना और जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेगा न अहंकार उठेगा न धोखा देना पैदा होगा न बदलाहट की चेष्टा होगी फिर क्या होगा फिर तुम ही बच रहते हो और तुम जैसे हो वैसे ही बच रहते हो यही मार्ग है सहज योग का अर्थ यह है कि कुछ भी करने जैसा नहीं सिर्फ स्वीकार की दशा को उपलब्ध हो जाए क्रांति घटित होगी वो तुम्हारे करने से घटित नहीं होगी वो तुम्हारे इस महान स्वीकार से फलित होगी क्योंकि जैसे ही तुमने स्वीकार किया विचार समाप्त हुआ तथ्य क्रांति ले आते हैं सत्य क्रांति जैसे ही सत्य दिखाई पड़ता है क्रांति हो जाती बेईमान आदमी को बेईमानी बदलने का कोई उपाय नहीं लेकिन बेईमान आदमी अगर अपनी बेईमानी को पूरी तरह स्वीकार कर ले इस स्वीकृति में इतनी अग्नि पैदा होती है कि बेईमानी राख हो जाती जल जाती लेकिन बेईमान भी धोखा देता वो कहता कल ईमानदार हो जाएंगे और आज अगर बेईमानी करनी पड़ी तो परिस्थिति के कारण करनी पड़ी करना मैं चाहता नहीं था मजबूरी थी कोई आदमी में बुरा नहीं आदमी तो भला हूं और भले होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कल भी कर रहा था कल भी करूंगा आज छोटी सी बेईमानी करनी पड़ी परिस्थिति बस बच्चे हैं पत्नी है घर द्वार है इसको चलाना है संसार है यह आदमी रोज अपने को धोखा देता रहेगा क्योंकि यह अपनी बेईमानी को भी देख नहीं रहा है उसे छुपा रहा है ढांक रहा है बदलाहट कैसे होगी ढांकने से कहीं कोई बदलाहट हुई घाव ढक लेने से कहीं कोई बीमारियों से छुटकारा हुआ यह आदमी अगर अपनी बेईमानी को पूरी तरह देखे और देखेगा तभी जब समझ ले कि न तो बदल सकता हूं न आंख बंद करके धोखा दे सकता हूं यह बेईमानी है ये मैं हूं और इसी के साथ मुझे रहना है इससे हटने का कोई उपाय नहीं ये मेरी छाया है क्या होगा ऐसे क्षण में क्या होगा जब तुम बदल भी नहीं सकते धोखा भी नहीं दे सकते और तुम्हें अपना पूरा रोग पूरी मवाद पूरा घाव दिखाई पड़ता है क्या होगा तुम्हारे जीवन में वैसी ही छलांग लग जाएगी जैसे तुमको अचानक पता लगे कि घर में आग लगी चारों तरफ लपटे तब ना तो तुम पूछते हो कि कहां से बाहर जाऊं न तुम सलाह मांगते हो न तुम कोई नक्शा खोजते हो न तुम सोचते हो कि कल निकलेंगे इतने जल्दी निकलना कैसे हो सकता है तुम बस छलांग लगा जाते तुम सोचते भी नहीं कि खिड़की कहां द्वार कहां मार्ग कहां तुम बस छलांग लगा जाते हो क्योंकि जब घर में आग लगी हो तो सोचने की सुविधा नहीं या तुम रास्ते से गुजरते हो और एक सर्प तुम्हें दिखाई पड़ता है फन उठाए उस वक्त तुम क्या करते हो तुम सोचते हो तुम सर्प से कहते हो कि रुको एक दो क्षण मुझे विचार का मौका दो ताकि मैं कुछ उपाय कर सकूं कैसे निकलूं इस घेरे से नहीं तुम बस छलांग लगा जाते सोच विचार बाद में आता है छलांग पहले आती अगर ठीक से समझो तो सांप भी है ये तुम्हें बाद में पता चलता है जब तुम छलांग लगा जाते छलांग पहले घट जाती जब जीवन इतने खतरे में होता है तो क्रांति स्वयं घटित होती है उसे करना नहीं पड़ता दैनंदिन जीवन अगर पूरी तरह स्वीकार हो तो क्रांति घटित होगी तुम्हें करना ना होगा तुम्हें साधक न बनना पड़ेगा तुम सिद्ध हो जाओ सहज योग का सार यही अब हम इस छोटी सी परिचर्चा को लें इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण जोशु ने नानसेन से पूछा मार्ग कौन है कहां है मार्ग कहां से चलूं कि पहुंच जाऊं नानसन ने कहा दैनंदिन जीवन ही मार्ग है ये रोज की जिंदगी ही मार्ग है तुम जैसे हो तुम जहां हो तुम जो कर रहे हो वही मार्ग उससे अलग तुमने मार्ग सोचा कि तुम धोखे में पड़ोगे क्योंकि उससे अलग कोई मार्ग है ही नहीं तुम्हारी दुकान तुम्हारा मकान तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे तुम्हारा काम धंधा तुम्हारा क्रोध तुम्हारी वासना बस वही मार्ग है तुमने अगर तरकीब निकाली हो कोई सुंदर मार्ग सपने का बनाया वो झूठा होगा उससे तुम्हारा कोई संबंध ही ना होगा हम सब ने ऐसे मार्ग बना लिए जिनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं जिन पर हम चल भी नहीं सकते क्योंकि हम तो चलेंगे वहां जहां हम हैं और हमने मार्ग बनाए हैं लोकोत्तर लोक में जीते हैं लोकोत्तर मार्ग हैं जीते साधारण में हैं असाधारण मार्ग जीते पृथ्वी पर हैं सभी मार्ग स्वर्ग में हैं तुम्हारे और तुम्हारे मार्ग के बीच कोई सेतु नहीं इसलिए मार्ग अपनी जगह तुम अपनी जगह जिंदगी चलती जाती कोई क्रांति घटित नहीं होती नानसन ने कहा दैनंदिन जीवन ही मार्ग है जोसु ने फिर पूछा क्या उस मार्ग का अध्ययन हो सकता मन बड़ा कुशल है जोसु का उत्तर बिल्कुल साफ है लेकिन फिर भी प्रश्न निर्मित होता है दैनंदिन जीवन ही अगर मार्ग है तो अध्ययन की जरूरत क्या है अध्ययन तो उसका करना होता है जिससे हम अपरिचित अध्ययन उसका करना होता है जिसे हम नहीं जानते अगर करुणा को समझना है तो अध्ययन करना पड़ेगा क्रोध का अध्ययन करने की कोई जरूरत है क्रोध तो है तुम तो उसे उघाड़ के देख ले सकते हो रोज रोज आता है तुम उसे ढांक ढांक छिपाते हो तुम अध्ययन से बचते हो अध्ययन की क्या जरूरत है अगर ब्रह्मचरी को समझना हो तो अध्ययन की जरूरत है लेकिन काम वासना को समझने के लिए अध्ययन की क्या जरूरत है अंधा भी समझ लेगा क्योंकि काम वासना तो जल रही है उसकी लपटें तो चारों तरफ है जोशु ने फिर पूछा क्या उस मार्ग का अध्ययन हो सकता मन तरकीब खोज रहा है क्योंकि अध्ययन अगर करने की सुविधा मिल जाए तो क्रांति से बचने का उपाय हो जाता क्योंकि हम कहते हैं पहले अध्ययन करेंगे समझेंगे फिर आचरण करेंगे स्वाध्याय होगा फिर फिर आचरण होगा अभी इतने जल्दी आचरण तो नहीं हो सकता जब समझते नहीं कि करुणा क्या है लेकिन जोसु यह कह रहा है करुणा को नानसेन कह रहा है करुणा को समझने की जरूरत ही नहीं अध्ययन की जरूरत ही नहीं करुणा की तुम बात ही छोड़ दो तुम क्रोध को ही ठीक से जान लो वो मौजूद है अध्ययन क्या करना है उसे उघड़ जाने दो अगर वो पूरा उघड़ जाए करुणा फलित होगी ये गहरी से गहरी कुंजियों में से एक जैसे पानी गर्म हो जाए तो भाव प्रकट होगी अगर क्रोध का साक्षात्कार हो जाए तो करुणा प्रकट होगी करुणा क्रोध के विपरीत साधी गई कोई अवस्था नहीं है क्रोध को जिसने उसकी पूरी विषाक्त दशा में जान लिया वो छलांग लगा के बाहर हो जाता है उसकी छलांग उसे करुणा में ले जाती क्रोध के भीतर बैठे बैठे करुणा का जो साध रहा है वो धोखा दे रहा है क्रोध के भीतर बैठे बैठे जो करुणा का अध्ययन कर रहा है वो धोखा दे रहा है काम वासना में दबा हुआ जो ब्रह्मचरी के विचार कर रहा है वो धोखा दे रहा है और इस धोखे के कारण काम वासना मिटेगी नहीं बढ़ेगी इसलिए ब्रह्मचारी की काम वासना और भी बढ़ जाती घटती नहीं और तुम अगर उन लोगों को देखो जो कि क्रोध पर नियंत्रण कर रहे हैं तो उनके क्रोध का कोई मुकाबला नहीं उनका क्रोध जलती हुई आग तुम्हारा क्रोध कुनकुना कुछ भी नहीं उनका क्रोध भभकता हुआ है ऐसे क्रोधों से ही दुर्वासा जैसे ऋषि पैदा हुए भभकता हुआ क्रोध ऋषि मुनियों की वासना का क्या हिसाब जब भी ध्यान करने बैठते हैं अप्सराएं चारों तरफ नाचने लगती तुमने ब्रह्मचर्य का सोच विचार किया और काम वासना को छिपाया तो यह होगा नानसन ने कहा यदि अध्ययन करने की कोशिश की तो तुम उससे बहुत दूर भटक जाओ अध्ययन के लिए दूरी चाहिए देखने के लिए दूरी नहीं चाहिए विचार करने के लिए दूरी चाहिए समझने के लिए दूरी नहीं चाहिए समझ तो तभी फलित होती जब दूरी बिल्कुल नहीं होती और विचार तभी चलता है जब दूरी काफी होती जैसे किसी व्यक्ति को प्रेम का अध्ययन करना हो तो उसे प्रेम में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि जो प्रेम में पड़ेगा वो प्रेम का अध्ययन कैसे करेगा वो तो इतना उत्तप्त हो जाएगा प्रेम से कि उसका अध्ययन निष्पक्ष नहीं हो सकता अध्ययन प्रेम का करना हो तो प्रेम में भूल कर ही पढ़ना चाहिए पुस्तकालय में बैठ के प्रयोगशाला में बैठ के अध्ययन करना चाहिए अगर प्रेम में उतर गए तो प्रेम की समझ तो आ जाएगी लेकिन अध्ययन नहीं हो सकेगा अध्ययन के लिए दूरी चाहिए और तथस्थता चाहिए फासला चाहिए प्रेम के लिए दूरी मिटनी चाहिए सब फासले गिरने चाहिए तब तो प्रेम की समझ का तो उदय होगा लेकिन उस समझ को हम अध्ययन नहीं कह सकते जोसु पूछ रहा है कि क्या अध्ययन हो सकता है उस मार्ग का मन कह रहा है कि अगर अध्ययन हो सकता है तो पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है तो फिर कुछ दिन अध्ययन करेंगे और जिंदगी जटिल है एक जन्म में भी अध्ययन पूरा ना हो अनेक जन्म लग सकते हैं फिर समझेंगे सोचेंगे विचारेंगे फिर छलांग लगा लेंगे नानसेन ने कहा अध्ययन करने की कोशिश की तो तुम उससे बहुत दूर भटक जाओगे अगर दूर भटकना हो तो अध्ययन करना इसलिए विचारक सत्य से जितने दूर निकल जाते हैं उतने अज्ञानी भी दूर नहीं होते अज्ञानी के भी हाथ के पास में ही सत्य होता है जब चाहे नजर फेर ले और देख ले लेकिन विचारक से बहुत दूर हो जाता जितना बड़ा विचारक उतना दूर हो जाता जिनको हम महान दार्शनिक कहते हैं उनसे तो सत्य का कोई संबंध ही नहीं रह जाता उस शब्दों में जीने लगते हैं सिद्धांतों में जीने लगते हैं शास्त्रों में जीने लगते हैं सत्य से शास्त्र शब्द का क्या वास्ता सिद्धांत का क्या संबंध नानसेन ने कहा अध्ययन करने की कोशिश की तो तुम उससे बहुत दूर भटक जाओगे तुमने कभी ख्याल किया कि जब भी तुम विचार करते हो तभी तुम जीवन से भटक जाते हो गुलाब का फूल खिला है तुम उसके पास बैठे तुमने सोचा और तुम दूर गए तुमने कहा कि फूल सुंदर है और तुम दूर गए तुमने कहा कैसी सुगंध कैसा प्यारा फूल और तुम दूर गए तुमने सोचा कि क्या नाम है इस फूल का और तुम दूर गए तुम्हें कविताएं याद आ जाएंगी जो फूल के संबंध में तुमने पढ़ी लेकिन ये फूल इससे तुम दूर हो जाओगे अगर फूल के पास होना है तो एक ही उपाय है कि तुम्हारे भीतर विचार पैदा ना हो तुम देखो तो फूल को लेकिन सोचो मत तुम सुनो तो फूल को लेकिन सोचो मत तुम सूंघो तो फूल को लेकिन सोचो मत तब तुम्हारा मस्तिष्क बाधा ना बनेगा और तुम्हारे हृदय के द्वार खुले होंगे उसी खुले द्वार से फूल तुमसे मिलेगा तुम फूल से मिलोगे जब भी तुम सोचते हो तभी तुम दूर निकल जाते हो सोचना एक यात्रा है दूर जाने की इसलिए ज्ञानियों का इतना जोर है ध्यान पर ध्यान का अर्थ है न सोचना ध्यान सोचने से विपरीत है ध्यान सोचने का दुश्मन लेकिन तुम होशियार हो तुम पूछोगे ध्यान के संबंध में भी अध्ययन तो करना ही पड़ेगा ध्यान के संबंध में भी सोचेंगे तो ही नहीं तो ध्यान को जानेंगे कैसे यही जोसु कह रहा है तो कह रहा अध्ययन तो कर सकते हैं जोशु ने फिर भी पूछा यदि मैं अध्ययन न करूं तो कैसे जानूंगा कि यही मार्ग विचार की बड़ी कठिनाइयां क्योंकि विचार अंधे की तरह टटोलता है एक अंधा आदमी है वो लकड़ी से रास्ता खोजता है टटोलता है देखता है लकड़ी दीवाल है तो समझ लेता है फिर दरवाजा है तो समझ लेता है अंधे आदमी की आंख का इलाज करो तो वो पूछेगा कि इलाज के बाद फिर मेरी लकड़ी छोड़ दूंगा या रखूंगा तो चिकित्सक उससे कहे कि फिर लकड़ी की कोई जरूरत ना रहेगी और अगर लकड़ी फिर भी तुम लेके टटोलते रहे तो उसका मतलब तुम अभी भी अंधे हो अंधा पूछेगा लेकिन फिर मैं जानूंगा कैसे कि दरवाजा कहां है और दीवार कहां है क्योंकि अब तक उसने लकड़ी के सहारे ही टटोल के जाना है उसे पता ही नहीं कि आंख का एक देखना भी होता है जिसमें लकड़ी की कोई जरूरत नहीं जोसु ने पूछा यदि अध्ययन न करूं अगर सोचूं विचारू ना अगर शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो जानूंगा कैसे कि यही मार्ग है कुमार्ग में पड़ जाऊं तो गलत मार्ग पे चला जाऊं तो भटक जाऊं तो हमें भी लगेगा कि उसकी बात ठीक है गलत मार्ग भी हो तो सकता है लेकिन सहज योग कहता है कि गलत के होने का सिर्फ एक ही उपाय और वो है कि तुमने सोचा बाकी कोई उपाय गलत होने का नहीं अगर तुमने नहीं सोचा तो तुम सही हो तुम जहां भी जाओगे सही ही जाओगे अगर तुमने सोचा तो तुम जहां भी जाओगे गलत ही जाओगे विचार गलत मार्ग है और ध्यान सही मार्ग विचार से तय नहीं होता कि क्या सही है विचार तो जहां होता है वहीं गलत हो जाता है विचार ही गलत है बड़ी मुसीबत है क्योंकि हम तो विचार से तय कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत विचार जो कि गलत की प्रक्रिया है जिससे हर चीज गलत होती हम उसी से सही को खोजने की कोशिश कर रहे हैं हमारी हालत उस सुनार जैसी है जो अपने सोने के कसने के पत्थर को लेकर बगीचे में आ गया और फूलों को कस कस कर देख रहा है कि कौन सा फूल सही है और कौन सा गलत अब पत्थर पर फूल नहीं कसे जाते और अगर पत्थर पे तुमने फूल कसे तो सभी फूल गलत होंगे इसका कारण ये नहीं कि सभी फूल गलत हैं तुम पत्थर ही गलत ले आए पत्थर के लाने में ही गलती हो गई सोना कसा जाता होगा फूल नहीं कसे जाते पत्थर पर घिस के कहीं फूलों का पता चलेगा कौन सही कौन झूठा कौन असली कौन नकली विचार से सही और गलत का कोई संबंध नहीं अगर विचार का किसी चीज से संबंध है तो क्या है विचार का संबंध है जहां बहुत सी गलतियां हैं उसमें सबसे कम गलत को चुनना द लीस्ट वो जो सबसे कम गलत है सबसे कम बुरा है सबसे कम बुराई को चुनना विचार की प्रक्रिया है लेकिन सबसे कम बुराई भी बुराई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक ठिगने शैतान को चुना है कि लंबे शैतान को चुना है शैतान की मात्रा से उसके गुण में कोई फर्क नहीं पड़ता दो पैसे की चोरी भी उतनी ही बड़ी होती जितनी दो करोड़ की चोरी चोरी है छोटी और बड़ी चोरियां नहीं होती छोटी बुराई बड़ी बुराई नहीं होती मैंने सुना है एक आदमी सेना में भर्ती होने गया उससे पूछा गया कि तुम शराब तो नहीं पीते उसने कहा कि नहीं चोरी की आदत तो नहीं है उसने कहा नहीं सिगरेट धूम्रपान उसने कहा नहीं स्त्रियों के पीछे तो नहीं भटकते हो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं आखिर पूछने वाला भी थोड़ा चौंका उसने कहा कोई एक आध तो बुराई होगी उसने कहा सिर्फ एक ही बुराई है कि मैं झूठ बोलता मगर एक बुराई काफी वो जो सब उन्होंने कहा था व्यर्थ हो गए बुराई छोटी बड़ी नहीं होती और ध्यान रहे बुराई एक दो और तीन भी नहीं होती एक बुराई काफी सब बुराइयां उसके पीछे आ जाती एक से दरवाजा खुल गया कि पूरी भीड़ आ जाती विचार कम से कम बुराई क्या है इसको चुनता है लेकिन वो भी बुराई विचार से कभी पता नहीं चलता कि क्या ठीक है और क्या गलत है बहुत गलतियों में सबसे कम गलत कौन है इसके लिए विचार तर्क करता है